यंग यंग में हम लोगों ने बनाए आकारण किसको भगवत किया गीता समझा आकारण धातु में यंग किया दोनों हम एक साथ बता रहे हैं तुलनात्मक रूप से सुन लो ध्यान से तुम लोग उठो तुम लोग से अंत की अच को वृद्धि अतुब्धा या सुब्धा की अत को वृद्धि मृजय वृद्धि से मृज धातु की उपधा को वृद्धि और उपधा के लघु को गुण बाकी धातु को कुछ नहीं हो गया okay. और यदि प्रत्यय किदगित भी नहीं है युदड़ भी नहीं है तो अंत के एक को गुण और बुधा के लघु एक को गुण ये तीन वर्ग में आप पढ़ लीजिए तीन प्रकार के अंग कार्य हैं ये समझ में आएंगे तभी आप दूसरे स्टेप में चढ़ेंगे ये पहला स्टेप देखिए ये डिविजन है पानी नीचे यही विभाजन है पानी नहीं देखो ऐसा